तैजस आकाशे च प्राजस देहे व्यवस्थित जागृत अवस्थायाम विश्वादीना मना मनो प्रदर्शार्थ यह श्लोक तो जागृत अवस्था में भी विश्वादी तीनों को आप अनुभव कर सकते एक ही अवस्था में कि तीन जगह चले जाओ तीनों जगह अनुभव कर लो आप बाहर हैं तो दक्षिणाक्षी पुरुष में तो जगत को देख रहे हैं आंख बंद कर लो मन में स्थिर हो जाओ मनोराज चलाओ स्वप्न के समान आप तेजस हो जाओगे हृदय में चले जाओ योग अभ्यास करो हृदय में चले जाओगे तो सुशक्ति देख लो जागृत में तीनों ही अनुभव हो सकता है जागृत अवस्था में ही विश्वादी का भाष्य उदक्षर शंका वारय जागृत इत्यादि ना विश्व तेज प्राचीन तीनों स्थानों को ही क्रमशः एक ही के अवस्था में ही संचरण करता हुआ अनुभव किया जा सकता है इसी बात को समझाने के लिए यह कार्य का आरंभ हुई है अनुभव प्रश्नार्थो अयम श्लोक दक्षिणाक्षी दक्षिणम अक्षी एव मुखम तस्वीन प्राधान्य ने दृष्टा स्थूला नाम विश्व अनुभूत है दक्षिणाक्षी ही है मुख जिस अनुभूति में तारस अनुभूति को प्रधान रूप जिस दृष्टि तो श्रोतृत्व मंत्रित्व आदि का व्यवहार कर लेते हो उन स्थूल विषयों का जहाँ दृष्टा बनते हो उसको हम विश्व कहेंगे विश्व अभूयते इंदो हवई नाम ये योयम दक्षिण अक्षण पुरुष है इंद्र नाम है उसी को हम इंद्र कहते हैं इंदो हवई नाम ऐसा ये जो है इंद्र नाम से कहा जाता है आत्मा को कब जब ये दक्षिण अक्ष में पुरुष में अनुभव होता है अपने जागृत अभिमान्य होकर अपने आप का अनुभव करने लगता है तब तो इसका एक नाम इंद्र वो इंद्र ही और कुछ नहीं इंद्र इंद्रा ने कहा रहेगी कदम बाई अंक में रहती है इसलिए कहा दाहिने अंक में इंद्र है तो बाई अंक में इंद्राणी है इंद्रो दीप्ति गुणो वैश्वान आदित्यांतर्गत वैराजात्मा चक्षुचि चा दृष्टा एक दीप्ति गुण इंदा इसका नाम क्यों पड़ा क्योंकि वह दीप्ति गुण वाला है वैश्वानर नाम से आदित्य अंतर्गत विराट पुरुष नाम से आदिदेव में जो प्रसिद्ध है वही इस अध्यात्म में चक्षुषी दृष्टा वही इस अध्यात्म में चक्षु के अंदर दृष्टि रूप अनुभव करते हो इसलिए जो अधिदेव में है वही अध्यात्म है दोनों के दोनों एक है इधर एक अभेद करता हुआ यू असौ सोहम अस्मी आया था ना कहा ईशावासी उपनिषद में ईश्वे यो असौ जो ऊपर है वहाँ आदित्य मंडल में वही मैं हूँ ऐसे उपासना करना अंग्रह उपासना करना है अभिन्न ननो पूर्व पक्षी लेकिन संग्रह करेगा महाराज कैसा हो सकता कहा वो कहा ये दोनों एक कैसे हो जाएंगी अन्यो हिरण्य गर्भ क्षेत्र दक्षिणोक्षिणी अक्षर नियंता दृष्टा च अन्यो देह स्वामी ये हिरण्य गर्भ है वो अलग है जो क्षेत्र है वो अलग है जो दक्षिणाक्षिणी में रहता है अक्षणो नियंता जो दक्षिणाक्षी में आया हुआ है अक्षी का नियंता है जो सूर्य का एक किरण रूपा कृपा से अनुग्रह से हो चल रहा है वो अलग है और ये जो देह का स्वामी जिसको आप दृष्टा श्रोता कहते हैं ये अलग दोनों भिन्न नहीं जो अधिदैव है और अध्यात्म है दोनों अलग अलग चीज है दोनों का आप एक मत कहिए पूर्व पक्षी जो अधिदैव है जो हिरण गर्भ का सबसे कहा जाता है जो क्षेत्र है दोनों अलग है क्योंकि जो गर्भ है वही दक्षिणाक्ष में इसका अभिमानी देवता अनुग्राहक देवता बन करके इसके ऊपर क्योंकि सूर्य के अनुग्रह के बिना आंख नहीं दिखाई दे सकता सब इंद्रियों का अपना अलग अलग देवता तत्व तो देवताओं के अनुग्रह से भी इंद्रिया काम कर रहे हैं अतएव आप अरे कह दीजिए कि सूर्य जो है ना अपने अंश रूप से इस चक्षु में रह रहा है ये तो मैं मान लेता हूँ और इस चक्षु का नियंत्रण भी हो रहा है उसके अनुग्रह जिस दिन जाएगा उस दिन क्षीण होते जाएगा और एक दिन अंधा भी हो सकता है उसके अनुग्रह की कमी से तो उसके अनुग्रह के अभाव में अंधा हो जाएगा अतएव ये तो मान लेता हूँ इस दक्षिणाक्षी में आदित्यांश भूत तो वस्तु है वो अंशी अपने अंश के द्वारा या अनुग्राहक बन के रह रहा है लेकिन वही ये विश्व भी है हम नहीं मान ये जो देह का स्वामी दृष्टा है श्रोता है ये दूसरा है दृष्टा च अन्यो यो देह स्वामी विचिन्न स्वतो भेद अनुपयुगवान स्वतः कोई भेद नहीं है ये तो उपाधि की भेद है चक्षु और ग्राहकत्व स्वीकार करोगे वो अलग हो जाता है जब समष्टि मैंने वृष्टि का अभिमानी रूप स्वीकार करोगे तो अलग हो जाता है इन वास्तव में दोनों अभिन्न एको देव सर्वभूतेश गुढ़ प्रमाण है श्रुत है श्वेता स्वतरो परिषद का ये मंत्र है कहे एको देव सर्वभूतेश एक है वह देव जैसे सकल भूतों में अपने विभिन्न अंश के अंश के समान अंश के रूप में महिमान्वित होकर व्याप्त हो रहा है वास्तव में अंशांशी भाव भी नहीं है तो औपाधि की बिल्कुल अंशांशी भाव मैंने एक ही सूर्य आप देखो स्थूल सूर्य को भी आप देखेंगे विभिन्न जलों के अंदर हजारों प्रतिबिंब हो जाएंगे जितना आप बनाओ उपाधि उतने प्रतिबिंब पड़ेंगे सूर्य थोड़ा हो जाएगा वो तो एक ही है उसी प्रकार सकल जीवों के अंदर चक्षुरारी का अभिमानी होने के बावजूद भी अंशांशी भाव अवय भाव से वो अनंत वो नहीं है उपाधि के कारण से अनंत के समान अनुग्रह का रूपेण ग्रहण करते हैं इसलिए और वे प्रमाण गीता जी को देते हैं तेरहवे अध्याय क्षेत्र विद्धि सर्व क्षेत्र भारत अविभक्त भूदेश विभक्तम विभट स्थितम तेरह दो तेरह सोलह दूसरा श्लोक और सोलवा श्लोक को दिया हुआ है क्षेत्र महाविद्धि भगवान कहते हैं अरे अर्जुना हे बारदा सर्व क्षेत्र सभी क्षेत्रों में जो क्षेत्र ज्ञान वो मई हूँ ऐसे जानो अर्थात एक ही मैं हूँ सभी क्षेत्रों में क्षेत्र रूप अनंत रूपेण भाषित हो रहा और अविभक्त मैं अविभक्त स्वरूप वाला हूँ ऐसे मेरे को सकल भूतों में विभक्त के समान स्थित होकर अनुभव करते हैं लोग इस प्रकार से गीता स्मृति भी है सर्वेश कर्णेश विशेष अपनी यदि सकल कर्णों में समान रूप से है विश्व जो जागृत कर्ण अभिमानी आत्मा है वो क्या आंख में ही रहेगा हाथ पर में नहीं रहेगा फिर हाथ पर तो सुन पड़ जाएंगे यदि आत्मा नहीं चेतनता नहीं है तो है तो सभी जगह कहते पूरे शरीर में सर्वेशु कर्णेशु अविशेष अपी सकल कर्णों में पूरे शरीर का खून की बूंद बूंद में कोने कोने में हर चीज में व्याप्त है इसे कोई संशय नहीं फिर भी दक्षिणाक्षी उपलब्ध पांचव दर्शना दक्षिणाक्षी में उसके उपलब्धि की कुशलता देखी गई आसानी से हम वहां पर अनुभव कर सकते हैं अन्यत्र नहीं कर सकते परम हम निगमानंद जी महाराज करके सुने हैं कभी निगमानंद असम वगैरह में बहुत उनका प्रचार बंगाल असम है ना तो उनके चित्र को आपने देखा कभी ध्यान दिया उनकी जो फोटो है छाया चित्र उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा वो यही दक्षिणाक्षी पुरुष का ही उपासक थे हमेशा उनकी आंख जो थोड़ा टेढ़ा है चेहरा उनके चेहरे फोटो देखे थोड़ा टेढ़ा और इसी तरह यूँ देख रहे हैं यूं देख रहे दृष्टि ऐसी कुटिया है ना आपके इधर ही पूछिए जहाँ आपकी कुटिया जिस कुटिया में रहते वहाँ पर है फोटो पर लंबा छोटा उड़िया बाबा के पास दक्षिणाक्षी में ही उनका पूरा सदा वही ध्यान करते थे जब ध्यान मग्न हो जाते तो वहीं पर उनकी दृष्टि टिकती तो सर्वत्र सामान्य रूप से रह रहा है किंतु दक्षिणाक्षी में ही उसकी उपलब्धि का पाठवत्व देखा गया कुशलत्व देखा गया अनायास रूप से वहां पर अनुभव में आ जाता है ऐसा ही देखने को मिलता है दर्शनाथ तत्र विशेष निर्देश विश्व इसलिए उस स्थान विशेष में ही विश्व का विशेष रूप में हमें निर्देश करना पड़ा श्रुतियों के प्रमाण के आधार पर ही करे कारिका का अपना कोई ये नहीं है दक्षिणाक्षी पुरुष के बारे में उपासना विस्तार रूप से प्रदान में आएगा दक्षिणाक्षी गो रूपम दृष्टवा निमीलिताक्ष दक्षिणाक्षिगत रूप को देखने के पश्चात आंख बंद कर लिया है तो जागृत ही सोया नहीं है सो के निद्रा रूपी दोष से ग्रस्त नहीं है बैठे बैठे आंख बंद कर लिया है तब क्या हुआ तदेव स्मरण मनसी उसको उसी विराट पुरुष विश्व स्वरूप को स्मरण करते हुए उसने मन में देखा गया मनसी अंत स्वप्न इव मन के भीतर स्वप्न नहीं हो रहा है स्वप्न के समान तदेव वासना रूप व्यक्तम पशती उसी विराट रूप विश्व रूप आत्मा कोई वासना रूपेण उस मन के अंदर संस्कार में ही विषयों का अभिमान करता हुआ उसने देखा यथा अत्र तथा स्वप्न जिस प्रकार वो यहाँ देख रहा है उसी प्रकार स्वप्न में देखा करता है अतो मनुष्यंतस्तु तेजसोपि विश्व इसे मन के भीतर जो तेजस का अनुभूति होता है वो क्या है वो वो विश्व ही है नामांतरित हो गया था केवल इसी प्रकार आकाशे हृदय के व्यापार स्मरणा के व्यापार को भी उपराम कर दिया स्मरण रूपी व्यवहार भी मन में नहीं हो रहा है तब तो क्या होगा मन बाहर जगत को इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर रहा है और अंदर स्मरणात्मक वृत्ति भी नहीं चलाया चुप बैठा उदासीन है कहने मतलब उस समय उदासीन है न जागृत विषयों से न मन कल्पित स्वप्न पदार्थों से या मनोराज्य के पदार्थों से उन दोनों से भी अलग होकर के सर्वविषय रहित होकर मन बैठा तब कहते मनोव्यापार अभाव तब जो क्या हुआ हृदय में आकाशी हृदय स्वर्ण व्यापार पर में प्राज्ञ ही हो गृह प्रज्ञ एवं भवती वही प्राज्ञ को हम कहते हैं एक ही भूत हो गया और गण प्रज्ञ हो गया है क्यों मनोव्यापार अभाव क्योंकि मन का तो कोई व्यापार नहीं दर्शन स्मरण ये वही मन स्पंदित है ये दर्शन और स्मरण ही मन के द्वारा स्पंदित है मन का व्यापार और कुछ नहीं है मन का व्यापार क्या है दर्शन दर्शन से उपलक्षित बाह्य इंद्रिय सकल दर्शन से उपलक्षित है दसवा इंद्रियों का मामला और स्मरण मैंने अंत कर्ण का मामला मन बुद्धि अहंकार ये सब लक्षित हो इसके अलावा और कुछ व्यापार नहीं है अंत अंतकरण तद अभाव इसलिए एकाश इंद्रिया जिन सब अपने व्यापार सहित हो जाएंगे हृदय अविशेष प्राणात्मावस्थान अवस्थान हृदय में ही अविशेष रूप से अव्याकृत भाव में कारण भाव में चुप स्थित रहेगा प्राणो ही एतान सर्वान संवृंद प्राणो ही एतान सर्वान प्राण ही इन सभी को आवृत कर लिया अपने में ढक करके रख लिया है जब तो कहा जाएंगे प्राण एको देवा कहा जागर दी प्रश्न प्रश्न पूछा था कौन जगह रहेगा अरे प्राणी तो जगह रहता है इसलिए सब कहा है फिर जो जगह है तो उसकी जन्म में है और कहा जाएगा और प्राण के अंदर ही सब सब बैठे प्राण में ही सर्वरी ने इसे संवर विद्या चांद परिषद का ये जहाँ छठा अध्याय तीसरे खंड में आता है वायुर्भाव संवर्ग वाव संवर्ग ये समर विद्या रेक्व की कहानी ही समर विद्या को लेकर के रेक्व की कहानी आती है उसने बताया था ये बात अरे प्राण में ही जागृत का स्वप्न का पदार्थ और संस्कार वासना सारे के सहित सब कुछ कहा है प्राण में पड़ा हुआ है प्राणी सबको संवरण करके बैठा हुआ संवृणो संवृंदे संवरण कृत्वा अवस्थितो भवती के कान एकान सर्वान कर दिया पूरी एकाश गया इंद्रिया तद विषय तद संस्कार वाघा सबको लेकर के बैठा तेजसो हिरण्य गर्भो मनस्तत्व और तेजस कौन है इसलिए वही हिरण्य गर्भ है जिसे विश्व को आपने विराट से अभिन्न कर दिया उसी प्रकार से कह रहे ये तेजस को हिरण गर्भ के साथ अभिन कर दे रहे इसमें क्या प्रमाण है कहते लिंगम मन लिंगम मन मनोपैतत्व क्यों मन में ही उपाय समष्टि और वृष्टि वेद से मन में ही उपाहित है वो समष्टि मन में हिरण अगर उपाहित हो गया हिरण नाम से कहोगे चैतन्य जो उपाहित चैतन्य को और वृष्टि मन में उपाहित चैतन्य को आपने तेजस नाम दे दिया और इसलिए वृष्टि मन समष्टि मन का आप जो भेद मान रहे कार्य कारण भाव को अभिन्न कर दो तो क्या रह गया मन एवं और समझते हुए शब्द ही हट जाओ क्यों कार्य और कारण अभिन्न होता है जब कार्य कारण अभिन्न हो गया समष्टि विष्ट संज्ञा को छोड़ के बचा गया आपके पास मन रह गया और उसमें मन सावचिन चेतन जो होगा वही इसलिए विश्व तेज से वही इसलिए किरण कर हुई है मनोमयो अयम पुरुष श्रुति इसमें क्या प्रमाण है कदे मनोमयो एम पुरुष ही प्रमाण है इत्य श्रुति यहाँ भी पूर्व पक्ष वही शंका दोबारा करेगा एक ऐसा होगा कि नहीं हो सकता प्राण सुषुप्त है तदात्मगाय करणानुभवन कथम अव्याकृत था पूर्व पक्ष यहाँ पूछ रहा है कि भाई आपने कैसे कह दिया टाइगर चेहरे गर्भ है मनस्त लिंग मन आदि कह दिया था इत्यादि शब्दों से प्रमाण दिया मनोमय पुरुष इत्यादि वहां पर हम पूछना चाहेंगे कि सुषुप्ति में जो प्राण है वो तो व्याकृति है अव्याकृत तो है और इस प्राण रूप में प्राण में लीन होकर के कर्ण वगैरह भी प्राण स्वरूप को ही प्राप्त कर गए हैं सब कुछ वह व्याकृत ही रहा तो आप उस सुषिप्त का अव्याकृत के समान कैसे सिद्धांत कहते नहीं दोष है अव्याकृत से देश काल विशेष भावान क्योंकि अव्याकृत वास्तव में सर्वत्र व्यापक है जागृत काल में भी अव्याकृत स्वप्न में भी है सुशुप्ति में भी है अव्याकृत में कर ले हो ना उसमें प्राण तो जगह हुआ कहा गया है यानी कारण रूप में वो भी अव्याकृत ही है कभी अव्याकृत देश देशादि परिच्छेद नहीं पूर्व पक्षी का कहना था वहां भी काल रूपी परिच्छेद है शिष्य कालावच्छन प्राण है कि नहीं हृदय देशावच्छिन्न प्राण ऐसे करके आप जो है शरीर आदि देह आदियों को लेकर के सुषुप्ति अवस्था भी काल को लेकर के परिचिन्न प्राण होने के नाते वह प्राण व्याकृत ही है अव्याकृत नहीं हो सकता ऐसा पूर्व पक्ष का आशय था इसे सिद्धांत जवाब देते हुए कहा कि नहीं तो देखो अव्याकृत जो वस्तु होता है वो देश काल विशेष वहाँ नहीं होता और देश से भी परिचिन नहीं है काल से भी वो परिचिन नहीं हो सकता कि जो देश काल से परिचिन है वो कार्य हो व्याकृत है जो देश काल आदि से अपरिचिन है वह कारण वह कार्य क्या क्या करेंगे जवाब की विस्तार कर रहे हैं अभी यद्यपि प्राणाभिमान सती व्याकृतता एवं प्राण से प्राण के रहने मात्र से और व्याकृत्य नहीं कहा जाएगा तो कहो सुषुप्त शरीर जिंदा कैसा है मर जाना चाहिए यदि वो प्राण भी कारण में लय हो जाए तो शरीर तो मर जाना चाहिए ना तो जिंदा कैसे तो दोबारा जग कैसे गया इसे जवाब दे रहे हैं देखो असली बात ये है अव्याकृत भाव में हम है उस समय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस सुषिप्त काल में प्राण का भी अभिमान नहीं कर रहा मैं प्राण वाला हूँ प्राणी हूँ ऐसा कोई अभिमान नहीं है मैं प्राणवान पुरुष हूँ स्वप्न में है जागृत में भी है लेकिन सुषुप्ति में प्राणा यद्यपि वही कर यद्यपि प्राणाभिमान सती है वह व्याकृतता प्राण यदि हम प्राणादियों का जब अभिमान करने लगेंगे तो तत्तवान होकर के हम ग्रहण करेंगे तो व्याकृत स्वरूप में हम आ गए यद्यपि ये बात तो है हम इसका मना नहीं कर रहे तथापि आप आइए सुशक्ति में देखिए क्या ऐसा बीमार है कारण की करण की किसी चीज की है नहीं तो फिर कैसे हम मानेंगे व्याकृत है इसलिए पहले व्याकृतता क्या चीज समझा ऐसे ने यद्यपि से व्याकृत किसे कहा जाएगा वो बता व्याकृतता उसी का नाम है हम उस कार्य के साथ अभिमान करें वस्तु का होने मात्र से व्याकृत है ये हम नहीं कह सकते और मेरे लिए है नहीं क्यों मेरे लिए नहीं है ना क्योंकि मेरा अभिमान उसके साथ जुड़ा नहीं तो मेरे लिए कहा है कार्य होते हुए भी वो नहीं के समान ही है इसलिए कहते हैं यद्यपि प्राणाभिमान से व्याकृत ही वह प्राण तथा भी पिंड परिच्छिन्न विशेषाभिमान निरोध प्राणी भवती आ गया ना कि उस समय हो क्या रहा सुषुप्ति में एता शरीर रूपी पिंड से परिच्छिन्न होकर विशेषाभिमान जो होता रहा है जागृत और स्वप्न काल में उसका निरोध हो गया है प्राणे पिंड परिच्छिन्न विशेषात्मा निरोध भवती अव्याकृत सुषुप्त अभिमान बता इसलिए जो परिचिन अभिमान को लेकर व्याकृतता को मानने वाले लोग हैं उनकी दृष्टि में सुशुद्धि काल में जो प्राण है ना वो वास्तव में अव्याकृत स्वभाव को ही प्राप्त कर यथा प्राणालय परिचिन अभिमानी नाम प्राणो अव्याकृत दृष्टान को है क्या ऐसे प्राणाभिमानी का जैसे प्राणाभिमानी कहता है प्राण का लय होने पर परिचिन्न मान पुरुष कहता है अब प्राण कहा गया अव्याकृत रूप में चला गया अर्थात मर जाने पर आदमी क्या देगा इसके प्राण कहा गए प्राण तो पता नहीं अपने कारण में चले गए स्वर्लोक चले गए कहीं और चले गए ये तो कहेगा जैसे प्राण लय होने पर प्राणाभिमानी परिचिन्न अभिमानी जो होता है वो यही कहता है कि प्राण अब जो है अव्याकृत स्वरूप को प्राप्त कर गया उसी प्रकार सुषिप्ति में भी प्राणाभिमान अभाव परिच्छेद का अभाव देव प्राण अव्याकृत स्वरूप में चला गया कहना पड़ेगा तथा प्राणाभिमानिनो अपनी प्राणाभि नानिनो या गया मानिनो अभी अविशेष आपत्तो अव्याकृत समाना इसीलिए जो है प्राणाभिमान के दृष्टिकोण से अविशेष भाव को प्राप्त हो गया है प्राण अतएव यहाँ पर भी अव्याकृता माननी ही पड़ेगी प्रसव बीजात्मक तद अध्यक्ष एको अवस्था अव्याकृत अवस्था किसको कहते हैं प्रसव बीजात्मक उत्पत्ति की कारण रूपता को प्राप्त होना ही अव्याकृतता है उत्पत्ति का जो कारण था उस कारण स्वरूप को जो प्राप्त हो जाने का नाम अव्याकृत है अव्याकृत का मतलब ये नहीं है कि वस्तु उत्पन्न नहीं वो नहीं समझना ये जगत अव्याकृत से था अव्याकृत में प्रकट हो गया नाम और रूप का नाम व्याकरण अने जीवे न आत्मना नाम रूपम व्याकरण नाम और स्वरूप का जो तय करता है इसी का नाम व्याकृत होना और नाम और स्वरूप का लय होना ही अव्याकरण इसलिए स्पष्ट करते भाषकर कहते हैं प्रसव बीजात्मक तद अध्यक्ष दोनों को लेना है उसका अध्यक्ष होना जो साक्षी देखो टीका में बहुत सुंदर इसको और स्पष्ट कर रहे हैं किंच पहली पंक्ति चौथी पृष्ठ में यथा आदि दैविकम अव्याकृतम जगत प्रसव बीज जैसे आप क्या मानते हो जो आदि दैविक स्वरूप है वो क्या है इस जगत के प्रसव का बीज होने से अव्याकृत मानते हो आदि भौतिक बना नहीं है से आदि दैविक के लिए आदि भौतिक बना फिर आदि भौतिक और आदि दैविक का परस्पर संचालन है तो आध्यात्म की जरूरत है देखो कितना कल का प्रसंग जोड़ गया भागवत का भागवत भी क्या है पहले ब्रह्मा जी ने पूरा भौतिक सृष्टि बनाया फिर मानस दैवी सृष्टियों को बनाया उसके बाद मनवादी शरीर मानस मानस शरीर बना दिया पहले भौतिक सृष्टि बनाएंगे फिर इस भौतिक सृष्टि का संचालन के लिए एक हमें दैवी सृष्टि की जरूरत पड़ता है इनका अभिमानी देवताओं को बनाना पड़ेगा इन्हें देवता भूखे रहकर कैसे काम करेंगे उनको आहुति आदि दे करके हवन आदि करने वाला मनुष्य आदियों की जरूरत पड़ता है जीवों की जरूरत पड़ता है फिर जैव सृष्टि इसको हम कहते जैव सृष्टि आध्यात्मिक सृष्टि जिस प्रकार से आदि भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टियों के लिए आदि दैविक सृष्टि क्या है कारण रूप है उसको बीज रूप को हम क्या मानते हैं अव्याकृत कह देते हैं जैसे दृष्टान किंच यथा आदि दैविकम अव्याकृतम जगत बीजम तदंतरी अव्याकृतम आसी तन रूपाभ्याम व्याकृत है श्रुति है आनंद गिरी टीका बोल रहा हूँ तथा ठीक उसी प्रकार से यथा दृष्टान्त तथा प्राणाक्यम सुषिप्तम जागृत स्वप्न और भवधि बीजम इसलिए प्राणाक्या प्राण नाम को प्राप्त किया कि जो सुषिप्ति है वो क्या है जागृत और स्वप्न दोनों का बीज है तथा तो जो कार्य प्रति प्रसव बीज रूपत्तम अविशिष्टम कार्य के प्रति प्रसव बीजात्मकता समान होने के नाते उपयो हो जैसे उसमें पर देखा था अव्याकृत नाम पड़ा किसको आदि देखा है ना उसी पर यहाँ पर सुषुप्त को क्या कहूंगा अव्याकृत नाम रख क्योंकि जागृत और स्वप्न के प्रसव बीज है यथा आध्यात्मिक और आदि भौतिक के लिए प्रसव बीज कौन था आदि दैविक था उसी प्रकार यहाँ पर भी होने से जैसे वहां तुम अव्याकृत व्यवहार कर सकते हो तो हम भी यहाँ पर अव्याकृत व्यवहार करने में कोई आपत्ति नहीं है दोनों समान होने से इसे लक्षण अविशेषा अव्यकृत प्राणी और एकत्व से प्रसिद्ध इस लक्षण में कोई अंतर न दिखाई देने कारण से अव्यकृत नाम इस यहाँ पर वहाँ पर दोनों के लिए प्रयोग करना उचित ही है इसलिए कहा प्रसव बीजात्मक समान विधि अनुकर्षार्थम चकारा चकार इसलिए कहा समानम का ध्यान करने के लिए पूर्व में ना समान अव्याकृत का समान उसको यहाँ समानम ऐसे ध्यान कर लेना कहते ठीक है उपाधि स्वभाव दृष्टिकोण से सुषुप्त को अव्याकृत कहना कहा तो उचित है तो विचार करना यह भी जरूरी है कि दोनों उपाधियां अलग अलग है उपाधि भिन्न भिन्न होने से कार्य भी भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा तब जवाब दिया नहीं तद अध्यक्ष उपाधियां भले अलग हो गए फिर उन उपाधियों का साक्षी अलग अलग हो गए क्या वो तो एक ही है जिस उपाधि को लेकर के उस नाम वाला हो गया उपाधि के अनुसार नाम वाला भले हो गया लेकिन वो नामी जो उस नाम वाला होकर उस उपाधि के साथ संबद्ध होकर के अनुभव कर रहा है वह नामी बुदा जो साक्षी है वो तो वही है इसलिए उसके दृष्टि से हम कहेंगे ये दोनों कार्य है वो कारण अध्यक्ष अच्छा, ठीक है देखो उसके अवतरण का उपाधि स्वभाव आलोचनया सुषुप्त अव्याकृत और अभेदम अभिधाय आगे ना उपाधि के स्वभाव का विचार करने पर निर्णय होता है सुषुप्ति और अव्याकृत में कोई अंतर नहीं है इसको उपादन करने के बाद अभिधान करने के बाद उपहित स्वभाव आलोचना आप उपहित स्वभाव देखो उपहित कौन है यह विश्व तय का साक्षी जैसा यहाँ है उस अव्याकृत का भी साक्षी वहाँ ईश्वर है इसलिए देश सर्वेश्वर कहना इस ताकि को गलत नहीं है यथा यहाँ पर प्राज्ञाभिमानी है वैसे वहाँ पर समष्टि में भी ईश्वर है विचार वही चलो ना इसको ईश्वर कैसे कह दिया आपने उसी पर लेकर विचार चल रहा है कहा बंधन में मन कह दिया था दृष्टान दे दिया मैंने श्रुति प्रमाण दिया था उस पर विचार आएगा अभी उस श्रुति पर भी विवेचन करेंगे अध्यक्ष एको इसलिए उपहित भी वास्तव में विचार करके देखते हैं तो वो भी एक है आध्यात्मिक आजीविक ओर एको अधिष्ठाता चित्तालु यहाँ आध्यात्मिक में इसका अधिष्ठान भी चैतन्य है उस आदि देवी का भी अधिष्ठाता चैतन्य है दोनों ही एक है अतएव तद अध्यक्ष एको इति अव्याकृत अवस्था आप भाष्य में जाइए इसलिए कहते हैं इन दोनों दृष्टिकोण से प्रसव बीजात्मकता का दृष्टिकोण से और अध्यक्षता दृष्टिकोण से दोनों में ऐक्यता होने के कारण से जो हम समष्टि में संज्ञा प्रयोग करते हैं व्याकृत संज्ञा वह दृष्टि में भी अव्याकृत संज्ञा प्रयोग कर रहे हैं भाष्य में परिचिन्न अभिमानी नाम अध्यक्षाण परिचिन्न अभिमानी नाम परिचिन विश्व तेजस के कि परिचिन्न का अभिमान जागृत सब सुचित अभिमानी का और इन सब का प्रत्यक्ष करने वाला उन साक्षी का अध्यक्ष अणांच तेन एकत्व पूर्वोत्तम विशेषणम एक ही होता प्रज्ञान इत्यादि इसलिए पूर्व में कहा विशेषण भी अनर्थक नहीं है कि वह सगल प्रज्ञान वाला वो एक हो गया एक ही भूता प्रज्ञान घन मंत्र में है ना कार्य का करें मंत्र मंत्र का टुकड़ा है एक ही भूत प्रज्ञान इत्यादि पूर्वोक्त विशेषण उपपन्नम ऐसा इत्यादि जो पूर्वोक्त विशेषण है वो भी उपपन्न हो जाते हैं अतः उक्त विशेषण जो भी ले लेना जो मंत्रस्त सर्वेश्वरत्वादी ये हेतु है सर्वेश्वरत्वादी हेतु है उन हेतुओं के आधार पर भी ये बात सिद्ध हो गया ऐसा भी ले सकते हैं ठीक वैसे ग्रंथगत आदि शब्द देना सर्वेश्वरतादि विशेषणम गृहित एक ग्रंथगत आदि शब्द क्या लेना है सर्वेश्वरत्वादि इत्यादि उपपन्न आदि कहेंगे नहीं कहा भूत प्रज्ञान गण ऐसे वो मंत्र तृतीय पाद गाया उसके अनंतर उसी पाद गण ये सर्वेश्वर जो कहा था वो सर्वेश्वर प्रादियों को भी हेतु ग्रहण कर लेना वो भी सब उपपन्न हो गया कोई अनुपात अनुपन्न नहीं रह गया क्योंकि आपने अव्याकृत को सुषुप्त के साथ में अभेद कर दिया तस्मिन उक्त हेतु और इतना ही नहीं ये जो बात हमने कथन किया व्याकृत संज्ञा देने कोई दोष नहीं करके इस विषय में उक्त जो हेतु उक्त जो श्रुति वो भी विद्यमान है कहते वो कैसा घटेगा वो भी नहीं घटेगा क्या कथम प्राण शब्द तुम व्याकृत अगर हमारा जो घटता नहीं और प्राण शब्द को लेकर विचार कर रहे प्राण बंधन में स्वयं मना घर तो अव्याकृत आप नहीं कर सकते वहां तो प्राण शब्द साक्षात ब्रह्म ही है उस प्रकरण में कहा छांदोग्य में आप कैसे प्राण शब्द अव्याकृत ले रहे हो तो पूर्व पक्ष कथम प्राण शब्द तम अव्याकृत मैंने अव्याकृत के प्रति प्राण शब्द का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं प्राण बंधन में सुन मने की श्रुते है क्योंकि आप यदि कहोगे प्राण बंधन सुमने श्रुति प्रमाण यदि चेत तब पूर्व पक्ष सदैव स्वमिदम अग्र की प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य सदैव अग्र अग्रासित इत्यादि जो है उपनिषद आरम्भ हुआ था उस स्थल पर उस प्रकरण में इसलिए जो सत शब्द वाच्य है ना उसी सत शब्द वाच्य को ही यह प्राण शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है और सत शब्द वाच्य कौन था वहां ब्रह्म अरे प्राण शब्द वाच्य भ्रम होगा अव्याकृत होगा नहीं सदैव स्वामी प्रकृतम सत जो ब्रह्म है वही प्राण शुद्ध वाच्यम भवती वही प्राण शुद्ध वाच्य होना चाहिए तब नहीं दोष सिद्धांत कद नहीं नहीं क्योंकि ब्रह्म भी जाना बिना कारणत्व के ब्रह्म को भी आप व्यवहार में नहीं बोल सकते क्योंकि सदैव इदम अग्र आसित इदम जगत अग्रे सद आसित का मतलब क्या इधम कार्यात्मक जो अग्रे कारणात्मक आसित मैंने कारणत्व अंश को छोड़ करके निर्गुण निराकार ब्रह्म को अग्रे आसित ये कह नहीं सकते आप ये जो अग्रे आसित शब्दों के आधार पर भाषिकार कहेंगे कि यह सब शब्द है शुद्ध ब्रह्म को आप नहीं ले सकते कारण ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा अव्याकृत ब्रह्म को ही लेना पड़ेगा वही करें बीजात अपिपगमा सतह कि इस प्रकरण में सत शब्द के द्वारा जो वाच्यभूत वस्तु है उसको हम क्या मान रहे हैं बीजात्मकत्व ही स्वीकार करते हैं यद्यपि सत ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य यद्यपि जो सत ब्रह्म हो गया क्या है प्राण शब्द वाच्य है इसका कोई संशय नहीं है जो सत शब्द वाच्य है वो ब्रह्म है और वही प्राण शब्द वाच्य कहा तत्र तस्वीर वाक्य उस उपनिषद में उस प्रकरण में उस प्रसंग में बिल्कुल आपका कहना सही है हम उसको इनकार नहीं कर रहे हैं किदृश निर्गुण निराकार है कि यह कारण ब्रह्म है कि किस ब्रह्म को बोल रहा है वो ये तो जानना जरूरी है ना इसलिए यद्यपि सब शब्दवाच्य जो ब्रह्म है वही प्राण शुद्ध वाच्य है इसमें कोई संशय नहीं हमको वहां पर यही अर्थ किया हुआ है तथापि जीव प्रजीव प्रस बीजात्मक अप्रत्यक्ष प्राण शुद्ध वाच्यतम सतह सत शब्द वाच्यता चत सत शब्द वाच्यता सत शब्द के द्वारा बोध ब्रह्म के अंदर सत शब्द वाच्यता जो मैं ला रहा हूँ वो किस रूप से ला रहा हूँ जीवों के प्रसव बीजात्मक रूप को त्यागे बिना शुक्र हुआ जीव के प्रसव बीजात्मक को अप्रत्यज्य कारण को छोड़ी बिना मैं ले रहा हूं अर्थात कारण से विशेष होकर ले रहा यही तो हुआ ना कारण विशिष्ट ब्रह्म को यहाँ कह रहा हूँ शुद्ध को नहीं कह रहा क्योंकि नहीं तो फिर आगे जब रहने जीवा जो कैसे बनेगा सब बाकी वाक्य जो प्रकरण का घटेगा ही नहीं और अग्रय आसित भी नहीं घटेगा इसलिए कहते हैं जीवों की उत्पत्ति का कारण ही भूतत्व जो स्वीकार किया गया उस कारणत्व को जीव प्राण शुद्ध वाच्यत्व अप्रत्याग पूर्वक ही प्राण शुद्ध वाच्यता उस ब्रह्म के अंदर माना और शब्द शब्द वाच्यता को भी उसी रूप से माना गया यदि निर्वीज रूपम विवक्षित ब्रह्म भविष्य यदि यहाँ पर निर्गुण निरागर विशुद्ध ब्रह्म ही कथन करना अविष्ट होता फिर आगे प्रकरण में कैसे वाक्य आनी चाहिए थी नीति नीति यथोवाचो थे अन्य देव ये सब प्रको आना चाहिए वो तो आया नहीं वहां तो बल्कि और ही बातें कह रहे हैं मृतगा सत्यम कार्यकाल भाव का दृष्टान दे रहे कार्यकाल भाव का ही तो दृष्टान दिया नाम रूप व्याकरण की बात कही है तो पूर्व में आ व्याकरण की स्थिति के अध्ययन कर रहे हैं नाम रूपेण व्याकरण वाणी का अर्थ क्या हुआ पूर्व में और व्याकरण की अवस्था का कथन कर रहे हैं क्योंकि अगले व्याकरण अवस्था कथन अर्थ तो व्याकृत और अव्याकृत की चर्चा हो रही है यहाँ शुद्ध की मामला ही नहीं इस कहरीकरण भाव से हम कहीं भी कार्य का वो कहा है उसे लक्षित करूंगा मैं शुद्ध को बात अलग है सत शब्द लक्ष्यार्थ हो रही शुद्ध है सत शब्द का वाच्यार्थ कारण ब्रह्म ही लेना पड़ेगा इसे कहते देखो यदि यहां पर ब्रह्म का कथन करना इष्ट होता अब भविष्य तद ही नेति नेति यथोवाच निवर्तनते अन्य तो इत्यादि अवक्षक इत्यादि के समान वाक्यों को यहाँ भी प्रयोग करना चाहिए था न सत्य न सदुच्चते इतने स्मृतियों में जैसा बोलते हैं वैसे कोई वाक्य यहाँ भी आना चाहिए उत्तरवर्ती व्याख्यान में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए था यही ब्रह्म कथन करना इष्ट होता तो निर्वीजित यही उचित सती लिया आराम संपन्ना नाम और दूसरा आपत्ति भी है शुद्ध ब्रह्म को ही प्रसंग में ले लोगे ना श्रुति में भी शुद्ध ब्रह्म ही कथन हो रहा है ऐसे मान लोगे श्रुति में भी शुद्ध ब्रह्म ही है और कारण भी शुद्ध ब्रह्म ही कहा जा रहा है फिर तो समस्या होगा जो मुक्त है वो भी लौटेगा फिर उसका प्रयोजन की आपत्ति है सुषुप्ति भी शुद्ध ब्रह्म आपने कह दिया तो सुशुद्ध कहीं लौट रहा है कि नहीं लौट रहा है सर्वानुभव सिद्ध है ऐसा शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त किया हुआ जीव जो मुक्त होगा वो भी क्या हुआ फिर भी लौटेगा शुद्धवत मोक्ष की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगा वही कह रहे हैं निर्बीज चेत सती संपन्न आरांच सुषुप्त प्रलय सुषुप्ति और प्रलय इन दोनों ही अवस्थाओं में सुषुप्ति में सुषुप्ति में ब्रह्म भाव को संपन्न और प्रलय में लीन उन वस्तुओं को यदि आप निर्बीजता को भी प्राप्त कर गया अर्थात शुद्ध ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त किया है ऐसे यदि मान लोगे तो पुनरुत्थान अनुपत्ति यह तो क्या होगा पुनरुत्थान होगा ही नहीं एक बार सृष्टि में गैस हो गया फिर जिंदा आएगा ही नहीं उजागर गैस हो गया फिर लौट नहीं पाएगा वो और यदि कहोगे नहीं सुषुप्ति से लौटना अनुभव में आ फिर तो आरांच पुनरुत्पत्ति प्रसंग फिर तो मुक्त उनको भी लौटना चाहिए ये दोनों एक ही जगह जा रहे हैं ना सुशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध ब्रह्म में गया और जीवन मुक्त व्यक्ति भी शुद्ध ब्रह्म में ही गया है जिस प्रकार सुशुद्ध व्यक्ति शुद्ध ब्रह्म में जाकर लौटता है जो मुक्त भी लौटेगा मानना ही पड़ेगा आपको बीजा भाव अविशेषात निर्बीजत्व समान बीजा भाव ने निर्बीज अवस्था को प्राप्त करना दोनों में समानता है एक कहोगे दोनों एक जगह पहुंचे और एक जो है दूसरी से लौट रहा है दूसरा दूसरे जी से लौटेगा ऐसा कैसे होगा ऐसा तो नहीं सकता जो जहाँ गए वहीं से दोनों ही लौटे हम्म। मैंने सबीज क्या है फिर तो को कहा प्राप्त किया हो आप ये बात कहोगे तो वो निर्विजता को प्राप्त ही नहीं किया यदि वो निर्विजता को प्राप्त किया तो मानना पड़े सुषुप्त वृत्ति भी निर्बीज भाव को प्राप्त कर गया का तो मतलब क्या है अविद्यादि बीज खत्म हो गए शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त होने का मतलब यह है क्या विचारी सब खत्म मानना ही पड़ेगा करें करेंगे दोनों समान हो जाएंगे यदि निर्विजता के व्याख्यान समझोगे तो इसलिए कहना पड़ेगा कि सुषुप्त वस्तु सविचरता को प्राप्त किया और मुक्त पुरुष निर्विजता को प्राप्त किया मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा यदि मानोगे इसमें तो यहाँ व्याकृता वस्तु की व्याख्या हुई शुद्ध का नहीं क्योंकि उसी में जैसे वहां पर कहता है एक बीज लाया उस दृष्टान में क्या है ये तो दिखाया एक बीज लाओ वृक्ष का बीज लाओ उसको फोड़ो उसको फोड़ो उसको फोड़ो क्या बचा देखा है तुमने इतनी छोटी सी चीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष जैसा है वैसे इसके अंदर सारा जगत है वहां कहने का मतलब कारण कारण तो हुआ वहाँ की जितने भी दृष्टांत है चांदोगी में भी सब कारण ब्रह्म का ही व्याख्या करता है शुद्ध को नहीं इस शब्द का वाच्यार्थ या चर्चा दोनों अलग बात ये मत सोचे वहां पर अभी शुद्ध की व्याख्या नहीं हुई ऐसा नहीं वहां शुद्ध ब्रह्म की व्याख्या हुई है लेकिन चर्चा क्या है प्राण शब्द वाच्य सत शब्द वाच्यार्थ की बात हो रही लक्ष्यार्थ की नहीं वाच्यार्थ दृष्टिकोण से कारण ब्रह्म का ही कथन हुआ है लक्ष्यार्थ दृष्टिकोण से शुद्ध ब्रह्म हुआ ये समझना है यहाँ वाचार की लड़ाई चल रही है शास्त्र जो चल रहा है वाचार को लेकर के चल रहा है कई बार बोल दिया ना शुरू में सभी का प्राण शब्दत्व आगे प्राण शब्द वाच्यत्व सत्शब्द वाच्यतम प्राण शब्द वाच्यतम सत्शब्द वाच्यता इसे जगत जो है स्पष्ट भाष्यकार ने यहाँ बार इसलिए शब्द प्रयोग किया वाच्यता वाच्यतम इत्यादि इसे कहते मुक्तांच पुनरुत्पत्ति प्रसंग क्यों बीजा भाव अविशेषात निर्वीज भाव को प्राप्त करा दोनों में समान हो गया है ज्ञान ही बीजा भावे ज्ञान आनंद के प्रसंग क्योंकि जो है फिर तो ज्ञान की व्यर्थता भी दोष आ जाएगा कहीं ज्ञान के द्वारा ये बीज ही नहीं रहेगा सुश्रुति में जाते ही सारा काम हो गया तो ज्ञान किस लिए ज्ञान के द्वारा दाई कोई बीज है क्या तो कुछ कुछ जिसको ज्ञान कर्म जलाना कहा ज्ञान आकृति सर्वक्रमण क्या जरूरत है सुश्रुति में गए निर्बीज मत तो चले ही गए बात खत्म हो गई कोई बीज ऐसा रहा ही नहीं जिसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ ज्ञान दाही जो बीज का भाव होने पर ज्ञान की भी अनर्थकता दोष आ जाएगा यदि सुषुप्ति में हम ब्रह्म को प्राप्त हो गए करके यदि कोई कहता है तो जब आप जो उसे पूछ रहे थे सुषुप्ति में ब्रह्मानुभूति क्यों नहीं अब आके ना सब आपका प्रसंग पूरा आ रहा है देखो इसलिए जो लोग ऐसा मान रहे हैं सुषुप्ति को ही ब्रह्मानुभूति ये बिल्कुल गलत है ये हो नहीं सकता है ये सब दोष आते हैं तस्मात सबीजत्व अभिगमे नहीं हो सदा प्राण उपदेश आ गया ना इसलिए आपको मानना पड़ेगा सत शब्द वाच्य लो चाहे प्राज्ञ शब्द वाच्य लो जो भी आप लेंगे प्राण शब्द वाच्य लो ये सारी चीजें क्या होगी सभी जत्व ही स्वीकार करना होगा सतः प्राण उपदेश सत्य भी प्राण शब्द का व्यवहार का योग्य हो गया सुश्रुति में कहा चले गए प्राण में गए सारा जग कहा चला गया सत्य में चला गया दोनों बराबर हुआ इसलिए सत शब्द वाच्य जो है वही प्राण शब्द वाच्य है सत शब्द और प्राण शब्द दोनों पर्याय हो गए एक व्यक्ति में समस्ट में प्रयोग कर रहा हूँ इतना ही फर्क उपाधि में जैसे ऐक्यता है कारणत्व के समानता को लेकर उपाधि जैसे एक है इन दोनों से उपहित को भी इसलिए एक मानना ही होगा अव्याकृत नाम से इन दोनों को कहने पर कोई दोष नहीं है